એના तक कोई चालो और मन મારા પીર में ले जाओ तो या माता साडू गंगर पति है तो कायदे का वोट का लोग माता साधु से पांच जवाब दे Pero સાડુને सोची कि गोट का लोग नहीं चाले तो अपना ये साढ़ा तीर से ग्वाल चाहिए तो जरूर माड़ा होता है माता साढ़ू देर बोली के देखो रे ना पाओ ना उधर कराने घेर लाओ और आप माड़ो चालेगा नारायण में माड़ो नहीं चालेगा और वहीं पाखना ना तो पगड़ी वक्त में तो कोई भी साथ में दे वो नौकर था ना गुहा वह भी माता साढ़ू से देख बोलिया कि माता ने चाला थारी लहर में माता मैं गाँव में थोड़ा बोल और के थाने चालो तो गया तो करो नापा देख बोलिया कि माता गया भी नहीं ले जावा जा नापा ने सोच के भी कहीं करेगी एक भी साढ़ा तीन सौ ग्वाल बदल गया के गया भी नहीं ले जावा जा नहीं माता साढ़ू वाला ये ना ये नापा अपना खुद ग्वाल छे यही आप परसु बदल गया ग्वाल देख बोलिया के देखो गाय ने खड़गा में तो गया ने सीधी नोला गया ने खड़गा में बोली वो लट ले ले और ग्वाला माता साढ़ू कृष्णा में उतर गया कि माता તું ઓર તારો દેવ और मैं अरे मना शक्ति को था और बहानी छो तुम तो ये दीक्षा नारायण ले जाओ तो यार रोटी घर घर के द्वारा कोई भी की सुनाई में तो सालो और मालो भी ये देख बोलिया दो ही भाई के देख रिसाला माला भी था आज तो माता साडू की किसी गरीबी से में आई और कोई दिन माता साडू की कशीक समय जी जो लाख माया उठा बचा और सुलाल जो खजाना में गिरी चोश बैठा पकड़ा हो तो शाम रा पूछा का ने वो सदा जी वो बाहू रखता वो बड़ो जी की मारी धरती आसमान में थर्रा हो चोशा की मारी तो आज वहां की क्या समय थी वह मरता ही माता साडू की क्या समय थे जो आप कोई भी इकता इस संसार में भी है और आप पर छोटा मोटा छोटा छोटा भाई था पीर का बोल रहा ये सालो मानो भी जब अपना माँ माँ और बाप छोटा छोटा ना मर गया जब यदि माता साधु ने यहाँ गया को दूध पुआयो और ठंडा बासी टुकड़ा सो आप कहता है पाल और इतना बड़ा जवान कर दिया एक साल हमारा बीज का तो आज आपने कहता है साथ आप भी तो साथ दिया इन्हें तो कितनों साथ दियो थे જે પોરા પોરા પાડ્યા છે અને आज આપણી જે રોર રોર કરી છે આપણે સુનાય કોઈ તો સાલોર માલો ભીલ કો દેખ બોલ્યો કે વીરાજી लूण रामी कभी भी नहीं होना चाहिए दादा भाई आप दो ही भाई चला अरे माता सन बताई माड़ो में पहुंचा वह भील देख बोले कि माता रोवे मत मां दूर ठाई डहर में माड़ो में चला पर माता जाने की तो दूर से धरो माड़ो के वीरा जी माड़ो बहुत માતા વિચારણા ભીમદેવ બોલ્યા કે કાંઈ તો નામ થારા પીર કો છે ઓર કાંઈ નામ થારા બાઈ કો જાય માતા સાડુ દેગ બોલી કે આમાં ઓર નીમા એ મજા મારા ભાઈ છે ઓર પીર છે મારો માળવા મે ગાંવ દેશ એ મજા દેવાસ वहां बारह फीट से ऊंची नगरी के पास ये माता रोवर आप तो नापा जो आखी गया है वाड़ा में भूल जी थी माता साडू देख बोली के हे साला माला झील गाओ और हुई जो तो हुई पण मारी छोदर मोगर गाई चोइस बेटा बगड़ा पकड़ाओ की दी हुई जात जाए वो ने जी वाड़ा छोड़े को तो पीरा ने तो उठायो नारायण को बाल और माता साडू देख बोली के नाथ गया तो ये ले जाबा दे कोई ने तो ये रीत रीताई बलोना से छाई छा बना बाका तो यह ना પણ माता પર वीरदेव बोला कि माता जब गया ने ये नापा ले जा भाई तुमने दे तो तू यार रीता भांडा को काई करेगी काई की चार्ज बोलोगी गेला में के नहीं गिरा यहाँ ने तो मैं जरूर भी ले जाऊंगी तो माता साढ़ुआ ने रीता ही बोलोना ने धर्माता पे और रोती रोती चल दीजिए और नारायण को पालनो माता पे जो सलामाला माला ने डर दी तो कहीं ने कहा नारायण की मुर्जी होए और कहीं नारायण जो लीला बरतावे और कहीं देखा गया मनसुई जो खड़का तोड़ तोड़ नारायण की लहर में चाल पड़े आज घेरे लीला बरता दी रे बड़ा देव ना कल की रहे महाराज की लीला होगी अब गया आपस होकर के भी नेहरू के वो आया देख बोला के गया चाली तो बाबा भूखा मरता भी मरेगा कहीं को तो दूध बेचेगा कहीं सो आप पेट गुजरान करेगा अरे रोको रे आप साढ़ा तीन से जमन गया वहां का बाप सुखी दुख बाबा नेहा नारायण की लार हुई जो हुई श्री गया ये मधा तो गया ना रोके वो साढ़ा तीन सौ गुआ क्या मैं सु एक गुआ जो गया की टक्कर में आज तो सीना था चूकती गया उन्हें भूल हो कड़ी वो जोगेली ठाकर वाला गुरु बर वाला गुरु जब नारायण सो हाथ जोड़ बोलो के हे नारायण मारा तो दिल में या बसरी छी के मु नारायण आपकी लहर में चाल दो नारायण जो मुंडे बोल गया के हे नापा तुम्हारी लहर में मारो हम चाल तो गाई कहाँ से लगा पर मैं तो मरवा में बैठी हूँ ये महाराज बोला कि तीन जिंदो कर ले जानो के नहीं श्री जिंदो कर ले चलेगा तो यह मुक्ति फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगी गाया माता की मुक्ति मरियोड़ी मन फिर खरीदी नहीं थी तू ना कहीं चाहे थे तू के श्री ना तो कोई किसी वरदान दे जो जो ताकि मारो पत्नी फिर भी ना रह जा तो नारायण कहीं ना कहीं कहीं वरदान देर ई ना पा नहीं जावे Ah uh. आपकी गम काबू नाम ही कर बचाओ जतु के नारायण आपके साथ में मारो भी नाम कर दूंगा तो जाना पा बारह महीना में आओगो धन द्वारी को बाद सब फर्क में पे वो गोवर्धन जी बनावा पा तो आज कहीं बार छे के श्रीनाथा आज धन ग्यारस को बार छे तो बारह महीना के धन तिवार में तने लोग दिनी जो गोवर्धन जी बना और घर के आगे थेपेगा और आज धन ग्यारस को बार से तो ग्यारस की धन जो गया खिंचा पूछेगी वो इतना घूंढ रही बारह महीना में एक तो फिर भी घूंढ रही ए नापा जा तू आज अठेसुई गोवर्धन जी महाराज बाजियो और तू सदाई धन डांडा की लहर में कीजिए जहां तक कुलजुग में मारा नारायण को नाम रहे जहां तक थारो भी अंबर नारायण नाम कर देगा या जो कहते समय नापा की जो जान नखलगी छे और नारायण वरदान देखे और कहीं मालवा में जाओ जी बोल कसन महाराज की Uh... করতে নেই মারনা भोजाजी की राम हटाया आया जी जा तो डेरो से ये डेरो तो दियो डाक मारे नारे डेरो तो दियो रे માતા સાડું લેતી નારાયણ रवना होगी जी तो गोट के बारे खड़ी दो चार कोष पूगी और राण बाण का डूंगर आया वहां बुद्धा जी की हत्या जी माता साडू देख बोली के देखो रे गया खगवाड़ो हे साला माला भी खाओ ही गाय नहीं यहाँ रोक दू एक रात को मुका ये बगड़ाओ कि हत्या छे यहाँ है जरूर एक रात रात रहनी चाहिए तो एक रात वहां सो रेगी वहां सो फिर माता जी साडू चाली छे चालता चालता चालता के धरिया छे एवं राम माता साडू वहां से जो रवाना हुई थे तो दाता साहब को डूंगर छे खान प्रदेशी वहां नारायण को तीन दंताई मुकाम वहां नारायण की बहुत ही गजब की धामना लाग रही थे और कई काला खा जाओ तो नारायण की तांती वहां बंदे थे वो नारायण का काला का खाया कभी भी नहीं मरवा तो ये गोठा में मालव जरिया छे જે ધામ लगाता રહ્યા છે ઈ કુંજ में सिन्हा का झाड़ो तो गांव छे वहां कसल महाराज की धाम जोरदार छे वहां से नारायण को मुकाम और गया चाली तो शहर छे छबड़ो वहां नारायण माता साडू ने माता पे शू छाबड़ो उठायो ने जब नारायण वरदान दे गया कि देख माता कोई समय पे कलजुग में यहाँ शेर छबड़ो बसे तो वहां जो शहर छबड़ो उनको नाम छे वहां नारायण की धाम छे नारायण सो गया था और गया तसया तो मरवा लागी जब माता साड़ू ने जगाया नारायण जो उठता ही अजुआ भालो दियो ने तो श्री नाता मनसू जो फाणी बहर बारे निकल तो आज बनाई साथ साथ काल पड़ जाओ पण हुआ नंदी एक दो कोष पे हुआ अमृत जो नारायण अम्बरी कर गया तो वह नंदी छवड़ा की टूट नहीं सके वाह वाह नारायण वहां से जो मुकाम चालिया तो कहीं देखा साव परोसे मारवा कर बुलाई श्रावण में जो नारायण को मुकाम लागो और या माता साढ़ू जो माड़वा जारी छे तो कहीं ना कहीं चालता चालता मालवा की को राजाओ छे और कहीं सपरानंदी आ जाओ आ... गौशाला माला बीज खाओ गाय यहीं रोक दो और एक रात को मुकाम यहाँ माता जी के यहाँ भी देर हो नारायण छोटा साग था जो माता का के थोक दुआरी थे कि माता मैं पाची आऊंगी माड़वास हूँ जद मारा नारायण अच्छो रखान जी और पाची आके गोट कर जाऊंगी था तो ही वजह से नारायण की माता एक रात वहां मुकाम रखान जो छे और वहां धार का धार को राजा छे पुआर जी के एक बेटी थी जिको नाम सो फीपड़ दे पुआ वो क्या सो आंधी थी तन तन में कोहड़ सोए छो और भाई साहब को नाम सो फीपड़ दे पुआ रोज ना हस्तनी पे बैठ के और वह पूजा करे चू माता अम्ब का की जी ने बारह वर्ष हो गया क्या तक भी वह भानी में कर ओढ़ न झाड़ी उनकी नारायण देव बोलिया छोटा सा की देख पीपल देव रानी મેં બહાર તો માળો જાર્યો છું और उठी शू माड़ो वापस वापस जो पाछो आऊंगा जब थारी कोड में छाड़ जाऊं ये नारायण ने वचन दे दिया तो नारायण वहां से मुकाम तो कहीं देखा माड़वा में जावे આજ ઘેરે મગાયા કો ચોકો ઘેર દો અબ જા રહ્યા છે મારવા માથા કાઢું કો પીર જો દેવાશ આવ્યું છે અરે મરના દો તીન કોષ પીર રહી ગયું और वहाँ रहनमान का डूंगर पर्वत आ गया माता साडू देव बोली एकदम सो से क्या पैदा होगी उनका शरीर में कि ना पाओ गाय ने यही रोक दू साला वाला भील का हो और जंगल में मंगल करा अपन तो यही रहना अपना पीर मने जाना कि क्यों माता के देखो रे साला वाला भील खाओ बहुत भोज तो इस बेटा पकड़ाओ तो मेरे यहाँ बारह वर्ष हो गया वहां के बाद में जो नारायण को अवतार होयो છે तो मारा मारा भाई और मारी भोजाया और मारो कुटुंब कबीलो या कहेगा कि या माता साडू सत की है પણ રાણ ભોજજી મર્યા તો બારા વર્ષ हो गया ये कौन को पुत्र जन्म लिया ई वजह से मुझे बहुत ही डर लाग्यो છે नहीं चला मारा पीर में आप तो यही रहा साला माला भील का देख बोलिया कि छोको माता क्या थारी इच्छा हो वही थारा साथ देवा के वास्ते तैयार છે माता साधु ने सोची कि जब अपन हमारा पीर में चलेगा तो मुझे बहुत ही जोर जोर शर्म आओगी और मुँह तो एक ली जा और हमारा पीर में मिल आऊंगी कि जाओ माता एक ली जा और थारा पीर में मल के और फिर आ जाएगी तो मरदा वो साल और माला भील का छाने वे तो चरा रहा थे और माता साडू देख बोली के देखो यो सूखो पेड़ से छालर को छालर को पेड़ सूखो छे ई सूखा पेड़ पे नारायण को पार नो बांध जाऊं छू और जानवरा की नगर खान जो कोई मारा कसन मारा न खा नहीं जाओ मैं बाहर पाची की पाची आ जाऊं ले जाऊं मारा जब ये साध और मालो भी का नारायण की रुखाली पे डूंगर में सूखा पेड़ के जो पालो बांध और माता साधु जी का तीर में जारी छे और ये नापा जो खूब प्रेम सु गया कराया छे तो इतनी सुनता और छोटी मोटी भोजा सब जी सुन मिलवावे के को दौरान भाई साहब बहुत इतना माया तो श्याम सफर जो सभी परिवार माता साधु को મળ્યો છે આ છોટી ભોજાઈ છે ને વાજો માતા સાડુ કા પગા લાગ રહી છે और या बड़ी भोजाई आती आती और दस पांच पेड़ सु फांसी देगी तो या परीक्षा कर रही माता साडू तो कहीं ना कहीं बड़ी भोजाई माता साडू सु वचन के आज गिरे बड़ी भोजाई छाटे ते परदिशा सुन ले री छोटी दौरानी बात हाँ, साडू माता के तू पा आज ही के तोरे गोदी में तो खेले आई छे पाप ले रे पीर में तो आगी छे पाप रे जय गोदी में सुख छे पूत छोटो जय गोदी में कन करे पूत शीशों के जग दो रानी मत लागे री साडू माता के पहा इनकी गोदी में खेले चेले नो फूट दूदा भीतरी चे की रेशम कहाँ से या के तारी माता साडू एकदम सुख बड़ा ये रान ने काई पुतो पियो ये मारे पुत्र को नाव दे दी मुझे इनकी मारी तो डोंगर में छोड़ राई सुना रहे और इने तो परीक्षा छाट ली माता साडू देव बोली कि देख ली भावज रे ए झूठ ली राण तुम्हारे पुत्र कहां से आयो री बौर भोज मेरा तो 12 वर्ष हो गया और फल में नहीं लागे बाबरी के नहीं भाई साहब तू झूठ बोले साडू माता और थारे जो पुत्र नहीं खेल दो है तो भाई साहब मारो नाम उतार दी माता साडू ने सोची की रान दूधा की बात तो मारे ऐसी शरीर में के काल मारी छाल रखाई जायी थी उनको पत्थरो तो के हर गोदी में लाई थी ये वजह से मारे में दूधा की बात आवे माता साडू की भाभी बड़ी देख बोली के भाई साहब तू घनी झूठ बोले थे थारा जरूर भी माता सालू ने सोची के राण ने तो परीक्षा पटनी अब तो जिसी हो जिसी केणी पड़ेगी माता साडू देख बोली के ही भावज और भाई बन दो एक बात है कि अब हो जाए कहते जो सही बात है अब खाता ही छपाऊ या तो केणी पड़ेगी बोध मिला के बाद में मारे नारायण को उतार हो चार बुझा भगवान को उतार हो वो जरूर मारे पेट उतार तो कोई और कमल का पसंद उतार लियो छे किया माता साधु ने कहताएं और छोटा मामा जी बड़ा मामा जी बहुत गजब का हरिया की हेरान कहाँ मिले बाण जो के दादा भाई मैं तो आपका शर्म की मारी पर्वत डोंगर में मेहन के और दो तो भी थे और गया थे और नारायण को पालनो वहीं बाण तो छोटा मामा जी बोला कि हेरान ताला लावा कहाँ छोड़िया तुम्हारा मोती बाहर जाने जब भगवान को उतार दो तो राण लाती तो माँ भी दर्शन करता छोटा मामा जी बोला कि ताला माता लावा नारायण छोटो मामो जी माता कालू पाछी हनुमान का वृंदावन कहीं नारायण में ले और मावा में दार बरकाया दानी मारा सूखा पेड़ ने तो हरियो रे आज देखो पालना के हीरा मोती के पाप आज छोटा सुबो जो रे मार नारा मामा जी तो गेला माया थे सालो मालो भील का ने देख बोलिया नारायण की कला हो रही वहाँ डूंगर में हीरा मोती पालना तो ला गया तो बड़ो तो मालो और छोटो तो सालो ये देख बोलो बड़ो के देख रहे थोड़ा नारायण की किसी लीला हुई इन्हें मार साला और ये हीरा मोती लेता अपना ही देख चलता ना माता साढ़ू ना जी के मेरे छोटो देख बोलो के देख रही बिराजी आपको विश्वास करके यहाँ छोड़ दी तो यह हीरा मोतिया के पूछ रहे आप नारायण ने क्यों मारा ये हीरा मैं नहीं मारवा दूंगा छोटो तो यूं के और बड़ो काई के जरूर मारा तो तो बहन का आपस में लड़ा नारायण देख बोलिया के देख हे बीराओ लड़ो मत और आज यहां से ही था दो ही बहन के तना फट लू नाल जात कर दू नारायण देव बोला के देखो यो बड़ा का मन में जो पाप आ गयो तो इन्हें तो बनाऊंगा मेलो ढील तो इन्हें तो भेजूंगा दिया देश में चार आंगल की तो छींती रहेगी के आगे आगे अन्न फरेगू फाचे फाचे यो फरेगू तो इन तो बना दू मैलो भी और छोटा तना बना दू वो उजड़ो भील ठाकर जो तू चाल जी मारी लहर माड़वा में जो सबके चौके पड़ी ने लाग जाइए और तू माड़वा को राज बराबर तू भी भील करे ये वचन नारायण ने दे दिया तो दो ही भाई का तरह पटन दीजिए तो यो मेलो भील छे यो तो छे बड़ो और ये उजड़ो भील ठाकर बाजे तो यो उजड़ो भील ठाकर माड़वा में जो नारायण तो कहीं माता साडू और गया में घेर के और कहीं मामा जी का महल में जावे स्वामी के कोई न पूती गोदी मेरे छोटी और छोटी मामी का कोई पुत्र कोई नहीं तो दो दिन आता देख पाई और बहुत खुशी होगी नारायण ने गोदी में उठा वाह वाह गोदी भांजा आज जो तकदीर खुलियो रे कसन भाड़ा ये तू आज मारे बदला फाउंड मारे नारायण छोटो शोक छे मैं बहुत इतना शोरो पालूंगी नारायण तो मामी जी बहुत प्रेम सुदाड़ कोट करी छे छोटो मामो जी भी बहुत प्रेम सुरखान छे नारायण तो छोटी मामी जी देख बोली गए बोरे भी रहो मारा नारायण कहता है तू मारा बाण जाना और के कोई गिराई भी नहीं तो माँ भी बहुत ही दिल जोर दे दी उसे नारायण की माता महल में विराजमान होगी और मामी जी छोटी जो नारायण ने जी शिवरा पे लगा दी उसे कसर मारा नारायण जो मालवा में अच्छी तरह प्रेम से सुबह की घड़ी उसे थे नारायण रात को दिन दिन सोनो और दिन को रात चोड़ो भगवान चाहे तो दोनों दिन होशियार होता जावे थे बड़ा छोटा मामा जी नारायण की जो गया राजा थे और माता साधु की बहुत ही अम्बा चेन विराजमान हो रही तो कहे देखा नारायण होशियार हो गया तो कहे देखा छोटी मामी जी सुन नारायण you. एक है बागा का सुन माले राम केश यारी बागा को दे दीजिए नारायण देव बोला कि मामी अब मुंगरों होशियार हो और साथ ही साई नाम है खेल बाकी ज्यादा देते કેશવ નારાયણ સુંદર બેટા જાઉં છું હું કી મામી જાઉં તો છું પણ એક તો મને પડ્યા છે ગેંદ વાળો जो गेंद को खेल लो मैं खेलूंगा मामा एक मामी एक कलोल बगल जी मैं कांकरा धर धर और चोट मार दो सीखूंगा जे ताकि मारो हाथ जम जाओ जो भी शस्त्र बाहू ना जो ठेठी ला मामी चालू वो चोइस बेटा बड़ा होता की चाल ए मामी मारा बड़ा भीषा था ना बहुत बीज और एक सोबर मंगा दो और पाशास्ती धान का एक मंगा दे बगल में डाल तरवार मामी एक मंगा दे सुनील हाथ में शेर तारा भनी मंगा दे कसम हाथ के पास पीतामर धोती मंगा दे ये श्रृंगार ला दे मामी और मैं पकड़ाता कोई श्रृंगार मामी ने बेटा को अच्छी बात मांगी तुम्हें तो मामी जी बहुत ही गजब से प्यार से खाने चाहिए तो नारायण તો નારાયણ ये चीज आई मामी जी तुरंत घड़ी में लाल दे दी थी लो नारायण खेलो बेटा के ठोकरे या सावधान की रेशम की खेत चंदन को टंको छे नारायण खेलो बेटा भावा तो छोरा छापरा साथी साई ने बेड़ा करके कहीं नारायण गेंद को तो खेल खेले से तू दस पांच ग्वालिया तू एक आड़ी की आड़ी भिड़ू रह जाओ और नारायण एक आड़ी भिड़ू तू तुवे दसवान ग्वाल्या एकदम गेंद के टोरो देवे तो नारायण पदवा ये फलांग दो फलांग में गेंद लार ग्वालिया ने पांच शिमला दे गया गेंद तीन तीन वार की बाजी रे नारायण देव बोला क्या मुंह गेंद के टोरो दूंगा तो कहीं लगे नारायण गेंद के देखे और कहीं गेंद तीन खंड नाप ले तीन भगत दी और तीन ही भगत गए तीन ही खंड नाप लिया वाह वाह महाराज वाह एक कसम देर खेल जो गेंद को खेल गेंद को खेल खेल के और नारायण गेंद फेंक दीजिए मामी जी देख बोली को बेटा गेंद को खेल खेल लियो कि हाँ मामी जी अब के अब तो मामी वह गलोर में थे वह गलोर में जरूर बाबोशी को तो नारायण के ऊपर काम करे कि गोल गोल कांकड़ा ले तो खुंजा में पड़ ले और गलोल हाथ में ले ले और कहा निशानो मार बा जावे कि जहाँ ये पनिया पानी भरवा के वास्ते वहां पे जावे ना तो छाने छाने छाने छाने जा और कहा कहीं कहीं के ओटे बैठ जावे और पनिया पानी भरवा आवे नहीं જે રીતિ પણ યાર પાણી ભરવા આવે ત્યાં સુધી કાંઈ નહીં કેરા नारायण और जो बेवड़ा भर भर और पक्षी आप आपके घर में जाओ ने जाके यूं गलोर में कांकरो मेल और कमर साहब जो दे ने तो ते ताई पणियारी को बेवड़ो फोड़ दे तो जितनी भी पणियारिया में कई बेवड़ा फोड़ दे પણ એના પાછી પરત દેખે કે એના कोई भी कोई नहीं चूक પણ એના का બેવડા कौन फोड़े છે तो फिर एकदम से झार के होटे उठ बहुत खुशी और हंसमा लाग जा बढ़िया देख बोली के ओहो गजब यो माता साडू को पुत्र छे नरदन छे बिल्कुल जी में कितनी उदम छे और कितनी धूम करे छे जो सब पणिया का बेवड़ा फोड़ दे चाल के और आज ही का मामा जी का महल में चाल के और मामा मामी चाल को तो कहे लगा शाम को टेम हो और मामा मामिया की यहाँ यहाँ का शेर की लुआ जो धमा दो करवा ला आज के रे श्याम को भयो टेम ना आई